ऋषुभ्रो तो यम पश्यन्ति यथा क्षीण दोषा ये चल रहा था तो इस प्रकार के कि सम्यक ज्ञान में था भूतात्म दर्शन ब्रह्मचर्य मित्र समाचारण सम्यक ज्ञान का अर्थ यथा भूतात्म दर्शन यथा भूतात्म दर्शन उसकी व्याख्या है सम्यक ज्ञान का यथाभूत इत्यादि कई तथाभूत करके भी पाठ करें है ना नीचे टिप्पण करता व्याचटित तथेत ये जो नित्यम शब्द है सब जगह जोड़ेगा कहे नित्यम सर्वदा नित्यम नित्यम का अर्थ सर्वदा नित्यम सत्यना नित्यम तपसा नित्यम समज्ञान ये जो सर्वत्र नित्य शब्द अंतर्दीपिका न्याय अनुषक्तव्य अंतर्दीपिका न्याय से नित्य शब्द को सभी के साथ जोड़ना पड़ेगा जैसे किसी भी मकान का बीच है मान लो दीपक को जला के रख दोगे तो उस दीपक का प्रकाश क्या होगा कमरे में रहने वाले जितने भी वस्तु है सबके साथ संबंध हो जाता है उसी प्रकार के मध्य में बैठा आया हुआ है नित्यम शब्द जो है जितने भी शब्द है सर आगे पीछे सबके साथ जोड़ेगा सत्य है लभ्य ये समय की है ना नित्यम बीचों बीच श्लोक का है पूरे मंत्र का बीच में है क्योंकि वो उत्तरार्ध पूर्वार्ध का अंत में है उत्तरार्ध से शुरू होने से पहले है इधर समस्त मंत्र का बीच में होने से सब जगह जो नित्य सत्य नित्यम सत्य लभ्य नित्यम तपसा लभ्य नित्यम समिज्ञाने लभ्य नित्यम ब्रह्मचर्य च लभ्य सब जगह जोड़े वक्षति च हर से प्रमाण क्या है क्योंकि आगे कहेंगे भी नहीं न ये जीव मन न माया च वक्षति हाँ, चे प्रश्नोपरिषद के एक सोलह में है ये न ये जीव अमृतम न माया चैती जिनमें कोई कुटिलता नहीं है जीव मैंने कुटिलता और माया मैंने इच्छा नहीं है उन्हीं लोगों को यह प्राप्त होता है उनको प्राप्त होगा और जिनमें कुटिल भाव है छल कपट है उनको प्राप्त नहीं होगा कौन है आत्मा यह आत्मा कौन है यह एक ही साधने लभ्य तुझते जो इन साधनों से लभ्य है आत्मा क्या है जिसको लाभ करें मैंने जो इन साधनों की उपलब्धि है वो यही आत्मा है आगे भी अंतर मध्य शरीर से पुंडरी का आकाश है कहाँ उपलब्ध होता है कहाँ लभ्य हो आत्मा कल इस शरीर के भीतर शरीर के भीतर में मध्य में अंतर शब्द कर रहे मध्य किसके मध्य में शरीर के मध्य में शरीर के मध्य में क्या है पुंडरी का आकाश है जो हृदय कमल रूपी जो आकाश है हार्द आकाश जिसको कहा जाता है वह कैसे अनुभव होता है वो ज्योतिर्मय ही वह रुक्म वर्ण शुभ्र शुद्ध वह ज्योतिर्मय प्रकाशमय और कैसा प्रकाश है वो बाह्य प्रकाश के समान नहीं है सोपाधिक प्रकाशों में उपाधि का दोष रहता है या नहीं आप जितना भी बड़ा बल्ब लगा पूरा रिस्क उसको उजागर करने तो कहा मिलेगा है कोई ऐसा बल चौरा पे लगा दिया अरे क्या चौरा पे जितना लगा भी वो कितना दूर तक देगा दो सौ फुट तीन सौ फुट तक जाएगा प्रकाश पूरे भारत को प्रकाशित करे तो ये सूर्य ही कर सकता कोई नहीं कर सकता ये वो भी बेचारा परेशान है सूर्य भी वो दिन दिन में कर पाता है रात में तो कर नहीं पाएगा तो पृथ्वी ऐसा घूम जाती है वो उसको पीठ दिखा देती है जहां में हमारा पीठ उस तरफ हो जाता है ना हमारे पृथ्वी हिस्सा दूसरे हिसाब से प्रकाश करता है वो भी सर्वव्यापक रूप में प्रकाश नहीं कर पा रहा है क्यों वो भी सोपाधिक जो भी सोपाधिक वस्तु होता है सर्वव्यापी का प्रकाश को प्रदान दे नहीं सकता है तेरे आत्मा का प्रकाश उसी के प्रकाश सब कुछ है यानी उसी के प्रकाश में सब कुछ है इसलिए कह दिया वो रुक्म वर्ण शुभ्र शुद्ध यम आत्मा पश्यंती उपलब्ध जिस आत्मा को लोग अनुभव करते हैं वो अत्यंत शुद्ध है कौन अनुभव करते हैं यतयो यथनशीला संन्यासीन यत्नशील हरियाबिलाते संन्यासीन जो कि कर्म बल के साथ किसी प्रकार का संश्लेष नहीं रखते कर्म बल के साथ संश्लेष कर्म में आ सकती हो भी नहीं कर्म में भी अनासक्त है और कर्म फल में भी अनासक्त है प्रारंभ कर्मशात जो है कर्म को करने वाला हो रहा है करता नहीं कर्म का होना अलग है कर्म का करना अलग है करने के मतलब कर्तृत्व आ गया हो रहा है मैंने कर्तृत्व नहीं आपका कर्तृत्व जिसमें नहीं आप ये तो कहोगे वहां ऐसा हो रहा है कहते कि नहीं कहते व्यवहार में भी हम देख रहे हैं इस बात को भाई जही कहीं कोई काम हो रहा हो कुछ भी हो रहा क्या बोलते हैं अरे वहां ऐसा हो रहा था हमने देखा देखने का कर्तव्य तो अपना ले मैं देखा लेकिन हमने किया कुछ नहीं वो तो हो रहा था अब पुलिस का डंडे के सामने किया हो तो भी कहेगा नहीं किया होता है कि नहीं व्यवहार ये कर्तृत्व न होना तो फलाशक्ति न होना दो अलग चीज है यहाँ सन्यासी का मतलब फल में भी आ सकती नहीं कर्म में भी आ सकती इसीलिए वो क्षीण दोष है नहीं तो क्षीण दोष घटेगा नहीं ये कर्माशक पुरुष में दोष क्षीण से नहीं होगा कर्म में कर्तृत्व भावना को लेकर ईश्वरार्पण करने वाले को तो भगवान क्षीण दोष करेंगे बाद वो बात अलग है लेकिन व्यक्ति का स्वतः क्षीण दोष वाला वो नहीं हो सकता है इसलिए क्षीण दोष विशेषण दिया अतएव कर्माशक्ति रहित भी मानना पड़ेगा इसलिए टीका में इतना ही लगा कर्म असंश्लेषणार्थ है ना कर्म आराम मुक्ति श्रवणाक्ष कर्म विहीन लोग में मुक्ति होता है टीका स्पष्ट है ना इसीलिए समझना है तो क्षीण दोष हमने क्षीण क्रोधादि चित्त मला क्षीण है क्रोधादि जो चित्त के मल जिनके वे लोगों का जत क्षीण दोषा यतन शिला स आत्मा नित्यम सत्या साधने संन्यास विर इसे संपूर्ण मंत्र इतना ही है कि वह आत्मा नित्य रूपेण जो नित्य निरंतर सत्य साधन को अपना करके रहने वाले जो सन्यासी हैं उन लोगों के द्वारा ही लभ्य है अनुभूति अनुभव होने योग्य है न कदाचित गई नित्यम क्यों कह रहे हो आप कहे न काजत की लभ्य है कभी सच बोल लिया कभी ब्रह्मचर्य पालन कर लिया उससे नहीं होगा ऐसे एक ब्रह्मचारी है वो, वो लोग पूछते थे उसे भाई तो तुम्हारे पिताजी जो है महात्मा थे और जो फिर शादी कर गए तुमको पैदा किए और फिर मैं कहते हैं बात ऐसा है बहुत बढ़िया जवाब दिया उसने बात ऐसा है मेरे पैदा होने के बाद से ब्रह्मचारी पहले वो थे महात्मा से बात अलग है कौन करता है वो कहता है वो कहे छोटा बच्चा था जो हम लोग पढ़ते थे बहुत छोटा था पूछते तो कहता था हमारे पैदा होने के बाद हमारे पिताजी ब्रह्मचारी ही हमारे गुरु जी ठीक है भाई ब्रह्मचारी है वो कागज ब्रह्मचारी उस पर दृष्टान दे रहा हूँ पैदा होने के बाद ब्रह्मचारी हुआ ना मैंने कागज ब्रह्मचारी हुआ ना नित्य ब्रह्मचारी तो है नहीं वो मेरे कादाचित कई ही सत्यावीर नाल अभ्यत सत्य साधन स्तुत्य अर्थ हुआ यम अर्थवाद इसे सत्य साधनों साधनों का स्तुति करने के लिए अर्थवाद वाक्य समझो अर्थात इन साधनों की कितना महत्व है वो बताया जा रहा है इन साधनों के अभाव है ब्रह्मानुभूति असंभव के समान है सत्यम एव जयते नानृतम न पंथा विदो देवयान ये नाक्रमं ऋषय हियाप्त कामा यत्र सत्य परम निधारम सत्यमेव जयते नानृतम भव्य राष्ट्र का महावाक्य है ये सत्यमेव जयते है कि भारत देश का महावाक्य देश ने इसी वाक्य को अपना महावाक्य स्वीकार किया है हर रुपये में हर जगह इसलिए छपाया जाता है सत्यमेव जयते राष्ट्र का पक्षी राष्ट्र का झंडा सब होता ही नहीं होता राष्ट्र का चिन्ह अलग अलग होता है तो वाक्य में से इसी वाक्य को महावाक्य मान के स्वीकार किया सत्यमेव जयते सत्य बोलने वाले का अंत में जीत होता ही है सत्य हमेशा जीतता है यह अर्थ नहीं है सत्य क्या जीतेगा हारेगा यहाँ सत्यवादी जीतता ही अर्थ है नानतम मैंने अनृतवादी कभी जीत नहीं सकता सत्य न पंथा विदतो देवयाना सत्य भाषण से देवयान मार्ग मान उत्तरायण मार्ग स्वतः ही उसके लिए खुल जाता है ये न आप क्रमं ऋषय ही आप्त काम जिस मार्ग के द्वारा आप्त काम पूर्ण काम जो ऋषि लोग है उस परम परमात्मा को प्राप्त करे परमम निदानम यत्र सत्य से परमम निदानम जहाँ वह सत्य उत्कृष्ट निदान विद्यमान है परम श्रेष्ठ धाम जो है विद्यमान है जिसके शिलो इस सत्य रूपी मार्ग को धारण करके ही प्राप्त कर लिया करते हैं सत्यम एवं सत्यवान एव जीती सत्यवान पुरुष ही जीतता है नान्रतम नान्द्रतवादी तीर्थ नहीं जीत नहीं सत्यांध्र हो केवल हो पुरुष अनाश्रदय और जय पराजय हुआ संभव की केवल सत्य या केवल अमृत वो जीतेगा या हारेगा ये व्यवहार हो नहीं सकता पुरुष में अनाश्रदय है ना पुरुष अनाश्रित तो होकर के एक केवल सत्य है केवल अमृत को लेकर के हार या जीत का व्यवहार नहीं हो सकता है इसे मानना पड़ेगा सत्यम एवं जेत मने सत्यवान पुरुष एवं जेत अंडतम नांडत मने अंडतवान पुरुषो न जेते अंडतवादी पुरुष जीत प्रसिद्धम ये सत्यवादी ना अंडतवादी अभिभूयते न विपरे अतः यह लोक में प्रसिद्ध है सत्यवादी के द्वारा अंतर्तवादी को हरा दिया जाता है दबा दिया जाता है और इसका विपरीत होता हो कहीं नहीं देखा गया अगर सिद्ध सत्य से बलवत साधनतम इसलिए बात सिद्ध हो गया सत्य सबसे बलवान साधन है जिसका कलयुग में अत्यंत अभाव है इसी साधन का तो अभाव है सत्य का अभाव है एक दिन पहले बताया था इसीलिए कि जो है गुरु चरित्र पुस्तक में जब वर्णन आता है कलयुग का स्वरूप का कलि किस रूप में प्रकट हुआ पूरा नंगा था दाहिने हाथ से जिहा को पकड़ा बाया से लिंग को पकड़ा हुआ था समझ में नहीं आया पूछा चेहरा ने गुरु जी क्या बात है ये ऐसे क्यों है कहने के इन दो को जो जीत लिया ना वही ज्ञानी होगा जो नित्य निरंतर सत्य को बोल नहीं सकता वाचाल होता है वाणी का कोई संयम नहीं और वाणी में दो चीज है रसनेन्द्र भी है एक वाघ इंद्र भी है दोनों का नियंत्रण आवश्यक है खाना पीना युक्त आहार विहार जिसका में कहा सारे चीज का संयम होनी चाहिए और वाणी का संयम में सत्यता होनी चाहिए और जन इंद्र का संयम हो वही व्यक्ति ब्रह्मांड बने ब्रह्मचर्य और सत्य यही तो है इस इंद्र, दो इंद्रियों का तात्पर्य क्या है ऊपर वाला इंद्र सत्य को बोल रहा है नीचे वाला इंद्र ब्रह्मचर्य का प्रकट करता है, है ये सत्य और ब्रह्मचर्य की महिमा है कलयुग में जो सत्यवान नहीं है जो ब्रह्मचर्य वाला नहीं है वो तो भूल जाना चाहिए वेदांत पढ़ना चाहिए और उसकी दुकानदारी बढ़िया अच्छा चला देनी चाहिए ये भूल जाना चाहिए कि हम वेदांत अनुभूति कर पाएंगे नहीं समझ ही नहीं पाते हैं बहुत तो और वेदों के अभाव में ही श्रद्धा का अभाव अपने आप हो जाता है जब व्यक्ति के अंदर सत्यता नहीं है ब्रह्मचर्या नहीं है तो उसके अंदर श्रद्धा हो नहीं सकती चल लाख कोशिश कर और जब यहाँ पर हमारे सामने एक बात करते हैं बड़ा दंडत मारते हैं पीट कर पीछे कुछ और बातें करते हैं तो ऐसे लोगों को कहा से होगा ब्रह्म ज्ञान वेदांत कहीं नहीं हो सकता आगे पीछे एक व्यवहार है इसको कहेंगे टीका के बदम धर्म ध्वजितम अहंगारो मिथ्याभिमान अंडतम यथार्थ यथार्थ भाषणम यह टीका में बड़ा विस्तार से इसी बात को समझा धर्म ध्वजी है ये दम्भ मिथ्याचारी होते सामने धर्म का पूरा काम दिखा रहे बड़े दंडक मारेंगे प्रणाम करेंगे गुरु जी सब बोलेंगे सारा और पेट गए जो छुरी मार देंगे मुख में राम बगल में छुरी कहावत ही बन गया इसीलिए तो ऐसे लोगों के अंदर श्रद्धा आदि हो नहीं सकता है तो उन्होंने ज्ञान अनुभूति कभी नहीं होगा ठीक है बुद्धि तीव्र है किस जन का पुण्य है शब्दार्थ जाल को ग्रहण कर लेगा और शब्दार्थ ग्रहण करके करेगा क्या वो अनुभव तो होना है ही नहीं कि पहले दगाबाजी कर चुका है है ना बाद में किसी जन को उत्कृष्ट पुण्य जग जाए भले ही जैसे आज गीता में आएगा अगला श्लोक में यही कहेंगे जैसा आधार मधुसूदने वगैरह नाजा में लोग क्यों दृष्टान दे रहे हैं अगले श्लोक के आधार पर ले रहे हैं वर्तमान श्लोक में जो ले रहे हैं वो अगले श्लोक के आधार पर लेते हैं जो थोड़ा सा भी धर्म करने लग जाए ना वो बड़े जितना सुदुराचारी हो धीरे धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा परिवर्तन आ जाएगा भगवान का थोड़ा सा भी भजन है ना वो अपने आप धीरे धीरे परिवर्तन लाएगा और ऐसा परिवर्तन लायक हो धर्मात्मा हो जाएगा तब पूर्व में सुना हुआ ज्ञान अपना फलीभूत हो जाएगा सदा फलीभूत हो जाता है इसके लिए उसको लगे रहना पड़ता है भजन में अंतकरण शुद्धि करनी पड़ती है जबरदस्त जो पूर्व में किया हुआ या वर्तमान में जो कर रहा है झूठ चल कपट उसको धोने के लिए भजन भी साफ करना पड़ेगा करते करते एक दिन वो धर्मात्मा हो जाता तो ये बात है और बलवत सागरत्व को प्रकट कर रहे हैं इन अर्थवादों के द्वारा किंच शास्त्र तो भी अवगम्य थे सत्य से साधनातिशत्व शास्त्र से भी या लोक से नहीं ये तो लोक क्या ना सिद्धम लोके प्रसिद्धम लोके का व्याख्या थी ना वो लोक में तो बात प्रसिद्ध है ही है और सत्य के महिमा शास्त्रों से भी स्पष्ट गम्य मान होना है साधनातिशत्व अरे कैसे शास्त्र से ज्ञान हो रहा है अरे कथन सत्य यथाभूतवाद व्यवस्थया पंथा देवयानाख्य वितो विस्तीर्ण सातत्यन प्रवृत्त यथाभूतवादया सत्यम ब्रूया प्रिय ब्रूयात न ब्रूया सत्यम प्रियम प्रियंच नानृतम ब्रूयात ये धर्म सनातन मनुस्मृति टिप्पण में दिया लेकिन अमृत प्रिय हो तो भी नहीं बोलना अमृतम प्रियम न ब्रूयात लेकिन अमृत तो प्रिय सब बोल रहे हैं आज जितने मंचों से भाषणबाजी करते हैं विभिन्न आश्रमों में जाकर क्या कर रहे हैं झूठी प्रशंसा करते ही नहीं वहां के महंत होंगे वगैरह के वे जानते हैं उनकी सारा बोल पट्टी वे उन्हें खुश करने में लगे रहते बड़ी मीठी बात बोले अरे इनके जैसा कोई नहीं इतना बड़ा झूठ बोला उसने क्यों वो प्रिय अनृत है सनातन धर्म कहता है प्रिय अनृत भी नहीं बोलना इसे अच्छा जाओ ही नहीं मंच में लफड़ा खाता बोला ना पड़े अब जाके केवल वेदांत या केवल कोई शास्त्री चर्चा करोगे तो वो लोग उनके नाक से उड़ जाता है क्या करें वो ये देखो ना हमारे लिए संबोधन ही नहीं किया है एक शब्द भी नहीं बोला तो बोलना चाहिए ना बड़ा मुश्किल है योग निकेतन जाते हैं वहां कोई संबोधन नहीं वो खुश रहते हैं वो कहते ठीक है और बल्कि उनको डांटता हूं क्या संस्था बना रहे हो हमारा समय तुमने बर्बाद किया डेढ़ घंटा किसी महात्मा का समय बर्बाद कर बहुत बड़ा पाप है बोला सुनाया हमने अच्छी <laughs> जब तुम हमसे सीखोगे नहीं कुछ करोगे नहीं हमारे समय क्यों बर्बाद करोगे भाई जब हमारे समय तुम्हें लिया है तो कुछ सदुपयोग करो कुछ तो सुधार लाओ आप में अपनी संस्था में नहीं ला सकते तो भांड में जाए तुम्हारी संस्था तुम तो हम, हम क्या करें हम क्यों आए तुम्हारे यहाँ आप बोलते हैं तो वो भी खुश रहते हैं विष्णु चैतन जी महाराज वहां बोल रहे थे नहीं आपने ठीक झाड़ा है ठीक बोला है हम लोगों का अकल खुलती नहीं क्या कर कोई प्रशंसा नहीं करते इसलिए कई लोग नाक से कुटते दम जाते नहीं सत्य सुनने को तैयार नहीं और झूठ बोलवाना चाहते हो हम कैसे झूठ बोले क्यों हम बोले भाई तुम्हारे सौ दो सौ दक्षिणा के चक्कर में हम चार झूठ बोल के आवे हैं और अपने साधन भजन खराब हो गया ना सनातन धर्म के विरुद्ध गए सनातन धर्मी होकर के कौन सा पुण्य कमाए और तो भला किसी की नहीं और खुद भी अभला हो गया खुद का भी नाश करके आए क्या फायदा हुआ न जाना ठीक है इसलिए कहते सत्य ने यथाभूत व्यवस्था यथाभूतवाद व्यवस्था के द्वारा पंथा देवयानाख्यो देवयान नाम का जो मार्ग है विद तो विस्तीर्ण कैसे विस्तीर्ण है वो सातत्य न प्रवृत्त सत्य सततम क्षुण्ण इत्यर्थ सत्य सत्यवादियों के द्वारा ही सदा सदा न कदाचित भी अंतृति भी कदाचित भी अंतत्वादियों के द्वारा वो देवयान मार्ग को प्राप्त नहीं किया सकता है उत्तरायण मार्ग का जो है द्वार उस व्यक्ति स्वतः ही खुला रहता प्रार्थना करें भी हिरण पात्रेण प्रार्थना करना पड़ता है नहीं तो यहाँ प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है वो जबरदस्ती आपके पास यही आएंगे ले जाने के लिए जैसे उसमें आया था ध्रुव के बारे में भागवत में आया था कि जो के सर के ऊपर पैर के चल पड़ा सशरीर चला कोई रोक नहीं सका अरे वो आएंगे आपके पास चलिए महाराज बोल के और आप उनके सर पर पैर के जाए तो कुछ नहीं बोलेंगे कहेंगे तो भाई तो महान है भैया ये तो सत्य पर टिका है नारायण के नाम पर टिका है हम तो नारायण के दास है और दास के सर पर कर हाँ, तो पैर हाँ, कौन सी गलत हुआ या नहीं तो उतनी उसके अंदर सामर्थ्य आ जाता है कि देवता भी अपना पीठ को सीढ़ी बना देंगे उसके लिए इतनी सत्य की महिमा गा रहे शास्त्र का ये न पता ही आक्रमण क्रमंद ऋषय जिस मार्ग से आक्रमंती मैंने ऋषय क्रमंत दर्शनवंत ऋषि कौन है उपासक कुहकम माया शाट्य अहंगार दम्भ अमृत वर्षिता ही आप तकामा दृष्टा अरे यहाँ लाए देखो दर्शनवंत उपासक कैसा होता है कुहक कुहकम परवंचनम टीका कुहक किसको कहते हैं जो पर को वंचना करने वाला आनंदगिरी टीका में और कुहक माया माया किसको कहते हैं अंतर अन्यता गृहित बहिर अन्यथा प्रकाशन भीतर में कुछ और बात रखा हुआ है और बाहर कुछ और बोल रहा है वो माया है साठ्यम साठ क्या है विभवानुसारेण अप्रदानम छठे साठ्यम समाचार तीसरे कहा गया आपके अपनी योग्यता सामर्थ्य अनुसार आपके साथ व्यवहार नहीं करते हैं या अपनी योग्यता सामर्थ्य से अपना व्यवहार नहीं कर रहा है छिपा के काम करता है जानते भी नहीं जानते बोल देते हैं अपने काम के लिए तो जानते हैं और आप काम बताओ तो नहीं जानते कहो भाई ये चीज पोस्ट ऑफिस में डाल पोस्ट ऑफिस कहा है महाराज अरे तू खुद भी तो पोस्ट ऑफिस जाता था कि नहीं आता तो अपना कहीं चिट्ठी पिट्टी डाला कि नहीं डाला तो वही उसी का नाम तो है जहाँ तू डालता वही डाल दे इसको अच्छा ऐसा तो परेशानी हो जाती है अब बताओ कितना लोग है आज के लोगों की हाल तो इसलिए कहते हैं कि देखो ये क्या है ये साक्ष्य और अहंकार मिथ्या अभिमान मिथ्या अभिमान का नाम अहंकार है दम्भ क्या है धर्म ध्वजितम धर्म ध्वजित का नाम दम्भ अंडम अयथा दृष्ट भाषण अयथा दृष्ट कथन करना उसको कहते हैं अंडत इत्यादि से वर्जित जो पुरुष होता है वही ऋषि है वही उपासक है वो आप्त काम पुरुष है प्राप्त काम क्यों है विगत तृष्णा जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की तृष्ठाएं रहती है वो इन सबको अपनाता है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की आकांक्षाएं वो अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ता है दूसरों से छल कपट बेईमानी सब करना पड़ता है जिसके अंदर कोई आकांक्षा नहीं वो अपने आत्मा से ही तृप्त है तो वही व्यक्ति सत्य में निष्ठा रख है जो व्यक्ति किससे कोई अपेक्षा रखेगा वो जरूर झूठ छल कपट करेगा छुपाएगा ना अपने आप को कि अगले को मालूम ना हो जाए कि हम क्या है क्या नहीं और डरता है अंदर से मालूम हो जाएगा तो हमारा काम करेगा नहीं बात छिपाएगा हमें साथ नहीं देगा तीसरे सब झूठ बोलेगा ताकि अगला सोचे बहुत अच्छा आदमी है और आपका सारा काम कर देगा नहीं यदि आपके और कोई अपेक्षा नहीं झूठ क्यों बोलेंगे साफ साफ बोलेंगे हो तो काम ठीक ना हो तो ठीक ऐसी भावना वाला कभी छिपाएगा नहीं कहा वो तो ठीक है नहीं तो नो क्या दिक्कत है हमारे कौन सी बिगड़ रहा है कौन सा ले आए कौन सा ले जा रहे बात तो डायलॉग सभी मारते हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है नहीं कहते कौन लाया कौन ले जा रहा है क्या हो गया बना तो ठीक नहीं बना तो ठीक लेकिन आचरण में तो लाना चाहिए इस बात को जो आचरण में लाएगा वो कभी झूठ नहीं बोल सकता इसे कहते विगत दृष्टा वाला जो पुरुष है ना वही आत्मकाम पुरुष जो है वही सत्य निष्ठा सकता है वो उपासक जो ऋषि होते वही लोग सर्वतो यत्र यस्मिन तत्परमार्थ तत्तम यत्र जिसमें वह परमार्थ सत्य उत्तम साधन से संबंधी साध्यम इस उत्तम साधन के संबंधी जो साध्य है वो कौन आत्मा परम प्रकृष्ट निधान पुरुषार्थ रूपेण निधान वर्तत है पुरुषार्थ रूपेण जब निधीयते धन निबद्धानी पुरुषार्थ रूपेण धन के समान जैसे धन को आप किसी कोष में रख देते हो उसी प्रकार से सत्य ऐसा चीज है जो आपको ले जाके आप हमें वो रख देता है शत्रु हाँ। भी धन ऐसा है तदरच ये न पथ आक्रमणती सा सत्य न विदते इसलिए ऐसे उस आत्म स्वरूप में जिस मार्ग से ये लोग जाया करते हैं ऋषि लोग सा वह सत्य के द्वारा विदते पूर्व न संबंधा इस तरह से पूर्वा पर अन्वय कर लेना चाहिए किम तत् किम धर्म कंज तत्ते कौन सा धर्म वाला किस प्रकार वाला है वो आत्मा जो सत्यादि के पान करने से प्राप्त होने वाला असाध्य सत्य साधनों के प्रापणीय जो साध्य का स्वरूप क्या है तो कहते हैं वो ऐसा है देखो बृहत चत दिव्यम अचिंग रूपम सूक्ष्म चत सूक्ष्मतरम विभाति दूरा सुदूरे तदिहांति के चुहायाम बृहत चत दिव्यम एक तो बृहत प्रकृत बृहद प्रकृतम उसका ही एक देश में अनंत ब्रह्मांड परिकल्पित है ना पादवश्य भूतानी त्रिपादश्याम रतन देवी श्रुति कहती है इसलिए बृहत बृहत्ता ब्रह्म ब्रह्मणत्ता जो ब्रह्म ये तो क्या है व्याप्ति बृह धातु या ब्रह्म धातु से रूप बनाया गया ब्रह्म शब्द इसलिए बृहत और दिव्यम वह दिव्य है और ऐसा है वो अचिंत्य रूपम अचिंत्य स्वरूप वाला है काया वाचा मनसा किसी प्रकार से उसको ग्रहण करके चिंतन विषयों का भी जैसा होता वैसे नहीं हो सकता सूक्ष्म सूक्ष्मतरम विभाति जिन आकाश आदियों को लोग सूक्ष्म मानते हैं ना उन सूक्ष्म वस्तुओं से भी वह सूक्ष्म तर रूपेण भासता है अविवेकियों के लिए वह दूर से भी अत्यंत दूर है दूरा सुदूर है अविवेकी पुरुषों के लिए अत्यंत दूर है अर्थात दूरतम वस्तु ब्रह्म ही है उनके लिए सात आसमान के ऊपर है पता नहीं कहा है वो सात आसमान के ऊपर बोलते ही नहीं मूल्य लोग सात आसमान के ऊपर जेई बोलते हैं लोकावक नाम का एक है ऊपर के ऊपर तो वहां जाकर के वो जिन बैठे होंगे जिनके हम चेड़े हैं जैन और जिन लोग जहाँ बैठे हुए हैं लोकालोक पे चौबीस तीर्थंकर वहां पहुंचेंगे उनके शरण में तब जाके हमारा मुक्ति हो ऐसे मान ये सब अविवेकियों के लिए बहुत दूर है दूर सुदूर है ये चंद्रमा भी दूर है उसे बहुत दूर पे वो है और ज्ञानी के लिए तदुयम दिखेचा तो कहीं और है नहीं अत्यंत समीप इसी शरीर के भीतर यही पर है उसके लिए इसीलिए यह गुहायाम निहितम पश्यती पश्यत्सु उसको अनुभव करने वाले बुद्धिमान पुरुषों के लिए तो वह शरीर के अंदर विद्यमान उस बुद्धि रूपी गुफा के भीतर में वह निहित है बृहत महच तत्व जो प्रकृतम ब्रह्म तत् मने प्रकृत जो ब्रह्म है जिसके विशेष साधनों का बार में सहकारी साधनों को मुख्य साधन नहीं सहकारी साधन जिसकी इतनी स्तुति गई गई वो सत्यादि क्या है सहकारी साधन है मुख्य साधन तो पूर्व मुंडक में जो कहा गया था प्रणव आदि जो धनुर उपमा के रूपकार अलंकार से जो कहा गया था वो प्रणव मुख्य साधन है उसमें सहकारी साधन सत्यादि ये तो कहा गया था ना और प्रणव को छोड़ गए क्यों सत्या लोगे तो भी बता दिया देवी मार्ग से तुम ब्रह्म लोग जाओगे वहां जाके तुम्हारी जो होगी सो होगी तद दिव्य तद हो गया जो ब्रह्म सत्यादि साधन सर्वतो व्याप्त सत्यादि है साधन जिसका ऐसा वह जो ब्रह्म वो सर्वतो व्याप्त है व्याप्त होने के बाद उसका नाम बृहत कह दिया गया और दिव्यम स्वयं ब्रह्म अनिंद्रिय गोचर अतव न चिंतित शक्य थे अस्य रूपमिति अचिंत्य वह स्वयं मृगा स्वरूप है और अचिंत्य क्यों क्योंकि अनिंद्रिय गोचरम वो इंद्रियों का विषय नहीं है इसलिए ही चिंतन करने योग्य वह नहीं है उसका स्वरूप चिंतन करने योग्य नहीं है अतः अचिंत रूप कहते हैं उसको मनोगोचर सूक्ष्म आकाशादी जिस आकाश आदियों को लोग सूक्ष्म मानते हैं उनसे भी तत् सूक्ष्मतरम निर्दिशयम सूक्ष्म उसकी सूक्ष्मता का कोई तारतम्यता नहीं है यह आकाश को सूक्ष्म ने किस और मारा तारतम्यता को लेकर के दिया देख रहे हैं जो पृथ्वी तो अत्यंत स्थूल है इससे सूक्ष्म कौन है जल है उसे सूक्ष्म अग्नि है उसे सूक्ष्म वायु ऐसे अगर सूक्ष्मता की तारतम्यता की पराकाष्ठा वो ले जा करके आकाश में टिकाते हैं है कि नहीं और परिमाण में इसी प्रकार से न्यून परिमाण की पराकाष्ठा ले जाके परमाणु में टिकाया उन लोगों ने न्यूनतम परिमाण वाला वो परमाणु कह देते हैं वो लोग ये परमाणु और आकाश ये दोनों ही सूक्ष्म है इन परिमाण कृत सापेक्षता को लेकर के तारतम्यता वस्तुंत्र सापेक्ष बना करके कह दिए ये यहाँ से ऊपर जाओ तो सूक्ष्मतम वो है यहाँ से नीचे की ओर जाओ तो न्यूनतम परिमाण वाला ये है लेकिन इतना का ऐसा वो तो सापेक्ष है और ये कैसा है निरधिशयम ही सूक्ष्म सर्व निरवेक्ष सूक्ष्मता है किसी की तुलना से इसको सूक्ष्म नहीं कहा जा रहा है इसको सूक्ष्म इसलिए कहा जा रहा है ऐसा हमारा सबका स्वरूप होता भी हमारा अनुभव नहीं आ रहा है यदि स्थूल होता हाँ, तो हम घटपट जैसे आप लोग को पकड़ लेते लेकिन स्थूल तो है नहीं और अन्य जितने को सूक्ष्म करके बोल रहे हैं उन समस्त सूक्ष्म को हम ये न रूप में अनुभव कर रहा हूँ गवार भी कहे थे नील गगनम देखो ना आकाश नीला है आकाश महिला है वो तो अनुभव कर रहा है ना आकाश को आकाश तक जिसको आप सूक्ष्म करा रहे हो उन सारे चीजों को अनुभव कर रहा है लेने आत्मा का अनुभव कोई नहीं कर पा रहा है इसलिए इसको सूक्ष्मतम कह दिया गया ये कारण सर्व ये जो ब्रह्म है समस्त कारण है इसलिए भी अत्यंत सूक्ष्म मानना पड़ेगा विवादी विविधम आदित्य चंद्राद्याण भाति दीप्य दीदी भाति विविध रूपेण भाषित होता है आकाश चंद्रमादि ज्योतिर्य पदार्थ रूपेण भी वही भाषित हो रहा है जड़ पदार्थ रूपेण भी वही भाषित हो रहा है जीव चराचर के रूप में समस्त रूपेण भी भाषित होता है किंच दूरा विप्रकृष्ट देशाद भी सुदूरे विप्रकृष्ट तरे देश वर्तते दूर जो विप्रकृष्ट देश है उससे भी जो दूर प्रकट तर वेश में जा करके ये है कौन आत्मा ऐसा कौन कहता है अभिशाम प्रत्येव अत्यंत गम्य विद्वानों के प्रति है क्यों उसके हिसाब से तो ये अत्यंत अगम्य है इसका तो अनुभव हो ही नहीं सकता अरे देखो ना जो हमारे बाप मरा वो स्वर्ग गया वहां तक मैं नहीं जा सकता हूँ जा सकते हो गया फिर जहाँ भगवान है वहां कैसे जाऊंगा अज्ञानी ये तर्क लेता है तो हमारे बाप मर के जा गया उसके पास मैं जा नहीं सकता उसे कोई बात पूछ के नहीं आ सकता हूँ कोर्ट में जरूरत पड़ रहा है खबर नहीं बाप तो मर गया अब हमें मालूम नहीं लेकिन हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम बाप के पास जाके आ जाए फिर ये कैसा होगा कि हम परमात्मा के पास चले जाएंगे या नहीं जब जीव मर के जहा जा रहे हैं वहां तक भी हम नहीं जा सकते हैं जहाँ परमात्मा रह रहे हैं वहां कैसे चले जाएंगे इसलिए बहुत तो हुए पता ही नहीं कहा है होगा कहीं ऐसे अज्ञानी लोग अपना तर्क के बात साबित कर लेते हैं और आप भी तर्क सुनेंगे तो मानना पड़ेगा आप भी कहेंगे बात तो सही कह रहे हैं अरे हम तो सर भी नहीं जाते तो जाए लोग जा रहे आ रहे वहां भी हम नहीं जा पा रहे और जब कोई नहीं आता जाता है ऐसे भगवान जा रहे थे वहां हम कैसे आएंगे जाएंगे बात तो उसके तर्क सही है या नहीं जहाँ दुनिया आ रही जा रही है वहाँ हम आ सकते जा सकते हैं तब तो मान लिया जाएगा भाई हम उधर भी जाएंगे आएंगे इधर ही नहीं जा पा रहे आ पा रहे तो वहां कहा से चले जाए जो आदमी दक्षिण भारत उत्तर भारत में आने का दम नहीं रखता वो अमेरिका क्या जाएगा हाँ, यार सीधी सी बात है तर्क तो साफ है इसलिए विद्वानों का दृष्टिकोण से वो अगम्य ही है अत्यंत अगम्य है स्वर्ग आदि अगम्य है और ब्रह्म अत्यंत अगम्य यह लेकिन विद्वान के लिए यह देह अंत के संवेच विदुषा महात्मत्व विद्वानों का अपना आत्मा ही है वो अतएव वो उनके लिए तो शरीर के भीतर है अत्यंत समीप है समीप क्या है स्वरूप ही है समीप क्या होना खुशी आनंद स्वस्थ है आपको आप स्वस्थ है क्या इसलिए अच्छा है महाराष्ट्र में अच्छी भाषा प्रयोग कर आपको तो स्वस्थ बोलते हैं आप स्वस्थ है क्या नहीं पूछते आपकी प्रकृति कैसा है नहीं स्वास्थ्य को पूछते तो क्या पूछते आपका स्वास्थ्य कैसे पूछते हैं क्या नहीं क्यों वो जानते स्वस्थ तो जो ब्रह्मज्ञानी होता है बाकी कोई स्वस्थ नहीं होता है इसलिए पूछते हैं आपकी प्रकृति क्या है मेरे को अच्छा लगा कुछ भाषण देखो हर भाषा में कुछ विशेषता है हसी मजाक वाली बात नहीं अच्छी बात तो सीखनी चाहिए ना उनसे दुनिया गुम तो ये कुछ न कुछ अच्छा मिलता है राम को एक अच्छा ही बात मिला देखो ठीक भाषा प्रयोग कर रहे हैं ये नहीं बोलते कभी कि आप स्वस्थ हैं क्या भले ही उन्हें ये बात का ज्ञान नहीं है ब्रह्म ज्ञान ही स्वस्थ होता है आदमी तो हो नहीं सकता ये बात का ज्ञान नहीं है उनको लेकिन लगता है परंपरा आई है तो जो शुरू किया होगा उस परंपरा को उस भाषा में वो चीज डाला है तो उसे वो जानता होगा कि ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र स्वस्थ होता है बाकी सब अस्वस्थ ही होते हैं किंतु केवल उनके शरीर की प्रकृति के बारे में पूछ सकते ये स्वाद में हम पूछा बेकार ये जानने वालों ने उनकी भाषा में इस परंपरा को टाल दिया है मानना पड़ेगा इस बात है नहीं स्वस्मिन कृष्ण की स्वस्थ उसमें स्वस्थो हरा पातु तो श्लोक में आया है नहीं जिसमें वो आता ना यहाँ सांप को गले में लटकाया है ये है वो है दुनिया भर कहानी आती है इस श्लोक में शिव जी का स्वरूप के बारे में स्वस्थ और अपा है हाँ? हाँ, भुजंग पुंग विषाद प्रीतिर्नैव चंद्रामृता न शौचम गले रुंड माल न शौचम गंगा जला नो द्वेगश्चित भस्मनो न चुखम सुखम मतलब भीतिर भुजंग पुंगल विषा प्रीतिर नैव चंद्रावृता भुजंग पुंग लगा रखे हैं समूह सर्वंगा और घुस घुस कर रहे हैं विचार छोड़ रहे हैं लेकिन उससे कोई भय नहीं और चंद्रमा से अमृत चमक रहे ऊपर से उसके प्रति कोई प्रीति नहीं न जहर से न अमृत से और कहते शरीर के ऊपर रुंड माला लगा हुआ है उससे उन्हें अपवित्रता अशुद्धता महसूस नहीं होता है क्या और जटाओं से गंगा धारा बह रही है उससे अपने आप को पवित्र नहीं मानते ना शौचम गले रुंड मालुडना न शौचम गंगा जला नो द्वेगिति भस्म आप मुर्दा को भी छूते हैं बनाना पड़ता है और मुर्दे का भस्म लगा लिया पूरा शरीर में तो विद्वेग नहीं है कि मैं पवित्र हो गया दुख नहीं है न च सुखम गौरी स्तना लिंगना से भरी हुई गौरी को अपने जान पर बिठा करके आलोन किया है तो उनके अंदर कोई उसका सुखानुभूति नहीं क्यों स्वात्मा तया क्योंकि वो आत्मा में रमण करने वाले को इन विषयों के साथ कोई संबंध ही नहीं है स्वस्थो हर पातु वह ऐसा जो स्वरूप में स्थित रहने वाले परमात्मा हम सबके पापों को हरण कर हम सबकी रक्षा करें कल्याण करें ऐसे श्लोक में स्वस्थ हो स्वस्थ वही है जो ज्ञानी है जो शिव है और कोई नहीं हो सकता है प्रसन्नोषाद आ गया बात पता नहीं कहा याद आ गया बता दिया कह दो किंचा दूरा विपरीत करते हैं यह देह अंतिम चा इस पर बोल रहा था समीप क्या होता तो स्वरूप ही है उसी में स्थित रहता है विद्वान तो लेकिन कहने के लिए उस अज्ञानी का दृष्टिकोण से कह दिया जाता है अरे तुम दूर कह रहे हो मैं कहता हूँ नजदीक है वो स्वरूप ही है न दूर है नजदीक है नजदीक भी उसको व्यवहार करेंगे जो अपने से भिन्न होगा लेकिन वो अज्ञानी के दृष्टिकोण से कह देता है तत्व तद यह अंतिके मैंने समीपे अज्ञानी का दृष्टिकोण से व्यवहार है इन वास्तव में उसका अपना स्वरूप ही है कि विदिशा में आत्मत्वाद सर्वांतर आकाश से आप अंतर शब्द है क्योंकि वो सर्वांतर है और यदि क्या कहूँ आकाश का भी कारण रूप है वो आत्मा करके कह दिया गया है निरपश्यु चेतनावत्सु नित्य निहितम स्थितम इसलिए यहाँ जितने भी चेतनावान पुरुष है जिसके अंदर श्रोतृत्व मंत्रित्व दृष्टित्व वगैरह है इन चेतनावान पुरुषों में एक निहितम स्थितम यह स्पष्ट रूपेण बुद्धि रूपी दर्पण में या बुद्धि रूपी उपाधि में स्पष्ट रूपेण इसका अनुभव हो सकता है इसलिए इन सभी के हृदय गुफा के बुद्धि उपाधि में निहितम स्थितम दर्शनादि क्रियावत्व योगी लक्ष्य मानम दर्शनादि क्रियावान रूपेण योगियों के जो लक्षित आत्मा है कहाँ है वो लक्षित होकर के गुहायाम बुद्धि लक्षणायाम कर बुद्धि रूपी उपाधि में है तत्र लक्ष्य भी वहाँ पर भी बड़ा आसान नहीं है हम अपने बुद्धि को देखते हैं लेकिन बुद्धि का अधिष्ठान बता चैतन्य और बुद्धि में विशिष्ट रूप में बाधित होता हुआ चैतन्य को भी हम नहीं देखते हैं जब कहते हैं हमारी बुद्धि आज बहुत अच्छी है बड़ी प्रसन्न है या हमारी बुद्धि आज खराब है ऐसे जब बोल रहे हो उस समय आपने उस बुद्धि के साथ में विद्यमान उस स्वरूप भूता चैतन्य या विशिष्ट जो जीव चैतन्य का अनुभव किया नहीं आप जो विशिष्ट चेतन अपने आप अलग रख लिए हैं मैं बुद्धि को देखा कि मेरी बुद्धि प्रसन्न है अर्थात विशिष्ट चेतन को आपने बुद्धि से अलग करके तो रख लिया प्रतिबिंब को प्रतिबिंब चेतन को बिंब का प्रतिबिंब का आधार बुद्धि से अलग कर, करके आप कह रहे हो लेकिन उस प्रतिबिंब का भी और उस बुद्धि का भी अधिष्ठान उदय चेतन जो सामान्य है उसको कोई देखा ही नहीं इसलिए योगी लोग कहते हैं ये कहते तो हैं हम लोग कि बुद्धि में अनुभव करते हैं लेकिन बुद्धि में जो कैसा है तथा ही निगूढ़ लक्षण कठिन है अनुभव करना इसलिए निगूढ़ है ऐसा विद्वान लोग कहते हैं लक्षित करते हैं तथापि अविद्या समृतम सन न लक्षते तत्रस्थम एवं अविद्युत भी फिर भी अविद्या के द्वारा ढका हुआ होने के कारण से वह सुस्पष्ट है निगूढ़ होकर के अंतमान रहने के कारण से अविद्वानों के द्वारा उस बुद्धि में स्थित होने पर भी वह लक्षित नहीं होता या पाठ में कुछ अशुद्धि है लक्षित के बाद में तत्रस्थमेवा विद्वद्भि इतना पाठ पुराने पुस्तकों में नहीं है जिनके नहीं है लिख लेना भाष्य तत्रस्थमेवा वा दीर्घ बना लेना स्तमेवा करोगे तब भी पदच्छेद हो जाएगी